ये तो अतः जिसलिए ऐसा है इसलिए तद दर्शनार्थम अनाज विद्या प्रसुप्ता इसीलिए उस आत्म स्वरूप का दर्शन करने के लिए अनाज अविद्या में सोए हुए हेरे जीवो उठो उत्तिष्ठत निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पतस्तत्कवयो वदन्ती उत्तिष्ठता अनि विद्या विद्या में सोए जीवा उठो मने विवेक करो सोचो समझो संभलो तीन सकार सोचो पहले समझो और अपने आप को संभल जाओ इस तरह ताकि सदा तुम सावधान रहो तो होता क्या है कत ही संपूर्ण अर्थों की बुता अज्ञान निद्रा से तुम जगो और जागृत जगने के बाद क्या करना है कहते हैं प्राप्त वरात वरान नहीं वरों को प्राप्त कर लो जैसे नचिकेत ने यमराज ने वर को पा लिया वरान नहीं को न हो अनुराज के वरात मैने वर पुरुषा श्रेष्ठ पुरुषार्थ श्रोत ब्रह्म निष्ठा आचार्य देव छांद का प्रश्न में है आचार्य देव क्या विद्या साधिष्ठान प्राप्त आचार्य से प्राप्त विद्या ही अत्यंत साध्यशील हो सकता है नहीं तो नहीं हो सकता इसलिए वरात मैंने आचार्यात निबोधत आचार्य से जो है श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा उसको अच्छी प्रकार से जानो और इस विषय में भाई ये समार के बारे में लोगों ने तो कह दिया श्रस्य धारा निशिता यथा जैसे पैनी छुरी की धारा जो तीक्ष्ण और दुस्तर होता है उस पर चलना वह चल सकता है चल तो सकता है बहुत संभल के चलना थोड़ा सा भी ज्यादा वजन डाला खट कट जाएगा इसे ब्लेड देख लो आप दाढ़ी बनाते हैं सभी हल्का सा असावधानी हुई नहीं कट से काट देगा वो दया किसी पर नहीं करता वो सोचता नहीं है अरे महात्मा जी है थोड़ा मन इनका हाँ, मनोराज्य में चला गया तो कोई बात नहीं हम इसलिए इसको माफ कर देते ऐसा ब्लेड कभी सोचता नहीं झट से काट ही देगा यह अविद्या भी ऐसी निर्दयी है ये नहीं सोचती है कि आप कितने असावधान हो गए हैं ये आप कहेंगे थोड़ी देर बाद आ जाना अविद्या ऐसा कहने से नहीं चलेगा अभी समय नहीं है मेरे पास अरे समय नहीं है लोग कहते भजन करने के लिए समय नहीं हमारे पास यदि आप पूछो भाई हम तो आ गए हैं चलो ध्यान करो महाराज कुछ देर बाद करेंगे आधे घंटे बाद अभी समय नहीं है तो उनसे पूछो भैया जब तुम्हारे पास मृत्यु आएगा हम राज्य के दूत आएंगे उस समय भी कह देना अभी समय नहीं है थोड़ा काम बाकी है तुम बाद में आओ क्या ये अमदूत तेरे बात मान लेंगे मौत किसी को माफ नहीं करता काल किसी को माफ नहीं करता इसलिए अगले क्षण का पता नहीं है इस भले कठिन मार्ग है बहुत सावधानी के साथ निश्चित रूप से इसको प्राप्त करना ही चाहिए कवयो तत्व ज्ञानी लोग इसलिए इस मार्ग के बारे पुरुष उस मार्ग को वैसे ही अत्यंत दुष्प्राप्य ऐसा बतलाते हैं दुर्गम पता दुरत्या क्योंकि उसको अतिक्रमण करके पार करके पा लेना असंभव सा है क्यों यह अत्यंत कठिन मार्ग दुर्गम पता मैंने कठिन मार्ग इतना अनायास से बैठते हैं अपना हलवा पूड़ी खा के सुना लेते हैं और सुन लेते हैं कितना आसान लगता है लेकिन ये अच्छे नाम मना चाहिए हाँ पता ही नहीं चलता क्या होता है शब्दार्थ तो <laughs> आ गया समझ में तो आ गया है और बढ़िया दुनिया को समझा देंगे ऐसा ऐसा करो भाई और खुद तो कर नहीं पाया ये बहुत कठिन काम है इसे दुर्गम पता विद्वान लोग कहते हैं यह मार्ग अत्यंत कठिन मार्ग है भाषाकार उत्तिष्ठता हे जंतव आत्मज्ञान अभिमुखा भवत उत्तिष्ठ मैंने अरे सविद्या निद्रा से उठो और आत्मज्ञान की ओर अभिमुख हो जाओ जागरण अज्ञान निद्राया घोर रूपाया सर्वन बीज क्षण क्रोध जागृत मैंने अज्ञान विनिद्रा का एक घोर रूपा जो अज्ञान विनिद्रा है जो सकल अनर्थ का बीज होता है इसको क्षय कर डालो नाश कर डालो कैसे करूं कथम प्राप्य उपगम्य वरान मैंने प्रकृष्टान आचार्यान प्राप्य उपगम्य प्रकृष्ट आचार्यों को प्राप्त करके तद्विधा तद उपदिष्टम सर्वांतरम आत्मा अहम अस्मी की निबोधता अवगछता तदवेत्ताओं से ब्रह्मवेत्ताओं से तद उपदिष्टम उन ब्रह्मवेत्ताओं के उपदिष्ट वचनों के आधार पर अपने आत्मा को सर्वांतर है और वही मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार से अच्छी तरह से भय प्रकार से जानो अनुभव करो नहीं उपेक्षित यदि श्रुति अनुकंपया हाँ, हाँ, मातृवत यह उपेक्षा करने लायक नहीं है तत्काल लग जाना है यद आहारे विरजित तद अहरे व परिव्रजित इसलिए कहा जिस क्षण वैराग्य हो चाहे किसी भी कारण से वैराग्य हो जाए चाहे प्रेम बिगड़ गया प्रेम विवाह बिगड़ गया चाहे कुछ बिगड़ गया कोई बात है निमित्त कुछ तो बने है या नहीं लेकिन तत्काल कम से कम संभल करके अपने आत्मस्वरूप को जानने के लिए यहाँ आ जाए तो उसका जीवन धन्य एक को सलाह खाया दूसरे के पीछे भागेगा वो तो कुत्ता से खराब बेकार है वाद ही है ना इसलिए कहते हैं कि भाई यहाँ उपेक्षा करने वाला मामला ही नहीं है नहीं उपेक्षित किसी बात को श्रुति अनुकंपया मातृवता यह अविद्यावान पुरुषों के ऊपर दया करते हुए माता के समान श्रुति कह रही है क्या कह रही अति सूक्ष्म बुद्धि विषय का ज्ञेय कि वह सूक्ष्म बुद्धि रित्युच्छत है अति सूक्ष्म बुद्धि का विषय है वह ज्ञेयभूत आत्मा कि सूक्ष्म बुद्धि इत्युचते किसके समान है वो सूक्ष्म बुद्धि जिसके द्वारा इस आत्मा को जान सकते हैं क्षुर धारा अयम अग्रम धारा मन अग्रम निशिता कृपा अग्रम निशिता धारा की व्याख्या कर रहे हैं जिसके अग्र भाग एकदम पैनी कर दी गई है तीक्ष्ण कर दिया गया है दुरत्या दुखे नत्य सा दुरत्या बहुत परिश्रम करने के बाद भी पता ही नहीं चलता हम पार किए कि नहीं किए ऐसी है स्थिति इसकी जब तक जो है चिंतन करते रहते तो लगता हो गया ये तो हम तो ब्रह्मज्ञानी हो गए हम तो मुक्त है पार तो हो ही गया है जब तक सुन रहे सुना रहे पढ़ रहे चिंतन मंथन कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको लगेगा कि बस काम तो हो गया है लेकिन थोड़ा सा बहिर्मुख होते हैं बाहर आते हैं तो पता लगता है कि ये संसार दृश्य है क्या अंत ममता भी बचा है अभी वहाँ पर जो है संघ है या असंघ है तब पता चलेगा व्यवहार काल में ही ब्रह्म ज्ञान की कसौटी है व्यवहार काल में कि हम असंग भाव से व्यवहार कर रहे हैं यह वहां पर आसक्ति घुस रही है यही हमारी परीक्षा है बैठे पढ़ते पढ़ाते हुए समझते समझाने में हमारी कुछ नहीं है उस समय तो बिल्कुल मन बेकूफ बना देगा कहेगा आप ब्रह्म ज्ञानी है हो गया काम बोल देगा वो अब करो मौज संसार की लेकिन जब संसार में उतरेंगे तब पता चलेगा वहां मौज करेंगे हम नाटक होएगा या आसक्त होकर अज्ञानी जैसे ही बिल्कुल व्यवहार पूरा करने लगे ये तो अपने अंतरात्मा से अपने आप को पता लगना है बाहर वालों को तो पता चलेगा नहीं वहां तो बड़े चालाकी से जवाब दे देंगे अरे तो सब ऐसे ही हो रहा हम तो नाटक कर रहे हैं कहना तो आसान कह सकते हैं इसलिए जो है ना दुगुनी वंचकता विकृत वंचकता जो है सभी के अंदर आता एक तो दूसरे को ठगा और स्वयं को भी ठग रहे ये विकृत वंचना है ये ये सबसे खराब है सर स्वीकार करो हम नहीं जानते लेकिन शब्दों का पुस्तक की बात कह रहे बात खत्म हम तो समझा रहे पुस्तक की बात पंक्ति समझा रहा हूँ हम है या नहीं हमें ही नहीं मालूम है हम कहा है हमें ही नहीं पता कितनी पानी में हम खड़े इतना पता है पानी में जरूर है कितने पानी में मालूम नहीं है भले नहीं इतना तो मालूम होना चाहिए पानी में है कि नहीं ये हवा में सोचोगे रहे हो गंगा जी में और सोच रहे हवा में ये तो गलत है इसलिए इतना तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा हम पानी में भले हमें मालूम नहीं कितने पानी अवे तो अपने अपनी व्यक्ति का अपना अनुभव है अपना विचार है स्वयं उसको कहते ना आत्मनिरीक्षण इसको कहते हैं सेल्फ एनालिसिस सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन अपने अंदर झांक के रखना कि हमारे अंदर कोई आसक्ति है या नहीं हम जो व्यवहार कर रहे हैं क्या नाटकवध वास्तव में नटवत कर रहे हैं या किंचित भी आसक्ति कहीं आ करके अपने अंदर किसी भी वस्तु के प्रति मोह ममता जागृत तो नहीं हो रहा यह सावधानी सतर्कता सजगता ये सदा हमारे अंदर बने रहना चाहिए वो स्थिति को अपना हो तो ये जो कह रहे हैं ये अपने आप हो जाएगा इसलिए क्षरदार अग्रणिदार तीसरे दुखे नत्या साधुरत्या यथा सा पदभ्याम दुर्गमनिया जिस प्रकार से पहाड़ देखो चढ़ते चढ़ते हालत खराब हो जाती दूर से लगता बहुत सुंदर है वाह कितना सुंदर लगता है हरा भरा बढ़िया अच्छा लग रहा है और जाओ तो पता रहते कितने कांटे बांटे जोंग पोंग सब पकड़ते रहते रास्ते में परेशान कर देते चढ़ते चढ़ते श्वास फुल जाता है हालत खराब कई बार भी जब बैठे बैठे विश्राम लेना पड़ता है और चाय भी पीनी पड़ जाती है उसके ना वहां तो पहुंच ही नहीं सकते तो उसी प्रकार यहां भी समझो कई आचार्यों के पास बैठना पड़ेगा कई पड़ाव है कई विद्वानों के चरणों में जाना पड़ेगा धीरे धीरे धीरे संतों का दर्शन करते हुए कहीं ना कहीं सत्संग हो ही जाएगा जिस क्षण सत्संग हो जाएगा उस दिन काम तुम्हारा हो जाएगा इन तब तक वरान आचार्यों को प्रवचन क्यों कर रहे हैं एक नहीं अनेकों आचार्य अब जाकर के धीरे धीरे क्या होता है उन हर आचरण के सामने चाय पानी पीना जैसे यहाँ होता है वह अभी अच्छी तरह से नाक रगड़नी पड़े तब जाके धीरे धीरे धीरे अकल खोलता है अरे हमारे पास आने आने का पहले कितने आचार्यों सब धक्का खा के आए हैं नहीं आए और यहाँ से आगे पता नहीं हमसे भी धक्का खा के और कहाँ कहा जाएंगे ये तो भगवान ही जाने हो सकता है जाना पड़े तो इसलिए कहते हैं कि देखो इसका कोई पता नहीं है जिस प्रकार से पैरों से दुर्गमनीय स्थानों को प्राप्त करने बड़ा कठिनाई पर करते हो सदा दुर्गम दुस्संपाद्यम तत्व पता पलता यह दुस्संपाद्य यह मार्ग तत्व ज्ञान लक्षण मार्गम कैसा मार्ग है ये तत्व ज्ञान रूपा मार्ग ऐसा कौन कहता है हो मेधा विरोधी गेय अति सूक्ष्म क्योंकि जो व्यय वस्तु है आत्मस्वरूप है वो अति सूक्ष्म है तद विषय से ज्ञान मार्ग से तो संपादित वदंती थे तादृश विषय का यह ज्ञान मार्ग तो संपादिता वेदा वेद वेदांति जो विद्वान मेधावी लोग कहते हैं ये इसका अभिप्राय तब कथम अति सूक्ष्म जीव से जीव दापा ब्रह्म अति सूक्ष्म आपने कहा है तो किस प्रकार से है कुछ तो संकेत होगा ना उसको पकड़ने का जैसे पूछा राज मटका है अरे सीधा जाओ वहाँ गोली लगेगा तो टोटी खाना पड़ेगा अरे कुछ तो संकेत दो वहाँ गली है उसका शौचालय है उसे भी बगल में घूमोगे तुम्हारा राजेश्वर मठ मिलेगा अरे कुछ तो रास्ता बताने वाला में चाहिए यहाँ भी तो कुछ मार्ग दो संकेत दो ताकि हम वहां तक पहुंच सके चाहे जितना भी गटा धक्का मुक्का खा के पहुंच ही जाएंगे कहते हाँ जानना चाहते हो किस प्रकार वह सूक्ष्म है सुनो अशब्दम स्पर्शम रूपम तथा रसम नित्यम गंधवच्छयत अनाद्यनतम महद परम ध्रुवम निच्छायत नृत्य मुखात प्रमुचते अशब्दम स्पर्शम रूपम आत्मा कैसा है शब्द स्पर्श रूप अगंधवच्छ शब्द नहीं अशब्दम अस्पर्शम और रूपम तीन गुण तो कर दिया आगे अरसम ले लिया अवयम घटाओ अभ्यास नित्यम को घटाओ असम अगंधवत तद अपेयम नित्यम च जो ऐसा है वो अपेय वह नित्य है तो आकाश के समान है क्या नहीं आए कहूंगा आकाश भी अपेय नित्य कहते नहीं नहीं अनाद्यनंतम वो अनादि और अनंत भी है कारण और कार्य से रहित है अनादि मैंने आदि वाला नहीं है कारण वाला नहीं है अंत वाला नहीं मैंने कार्य भी नहीं है वो न कारण है वो न कार्य है वो महदा परम महतत्व से भी परे है सर्वभूत साक्षी होता हिरण गर्भ से भी परे या यहाँ पर सर्व वृत्ति ज्ञान का साक्षी होता तेजस से भी परे है और ध्रुवम निश्चल है निचायत नृत्य मुखाक्रम तो सात तत्व का अप्रोक्ष रूप से जानकर जीव क्या होता है मृत्यु के पंजे से छूट जाता है निचाय तत् निचाय उसको नितान चयन करके नितान्त चयन का मतलब गया अर्थात उस सात तत्व को अप्रोक्षानुभूति करके मृत्यु मुखा ये जन्म मरण लक्षण संसार का मुख से ब्रह्मोच्चत है मुक्त हो जाता है ये जीव जो अविद्या काम और कर्म के जाल में फंसा था ये उन्हीं अविद्या काम कर्म रूपा मृत्यु से मुक्त हो जाता है भाषिकार स्थूला तावधियम मेदिनी शब्द स्पर्श रूप रसगंधो पचता ये जो मेदिनी है पृथ्वी स्थूला है कैसी है वो शब्द स्पर्श रूप रस गंध से उपचिता उसी के द्रोपचय और अपचय को प्राप्त करती रहती है बढ़ती बढ़ती रहती है अत यह अत्यंत सावयवा स्थूल रूपा वस्तु है यह पृथ्वी सर्वेंद्रिय विषय होता जो कि सकल इंद्रियों का विषय बन रही है पृथ्वी जैसे यह पृथ्वी स्थूला है उसी प्रकार से तथा शरीरम यह शरीर भी करा ही होता अत्यंत स्थूल वस्तु है तत्र एक ही गुणापकर्षण गंधादी नाम सूक्ष्म महत्व विशुद्धत्व नित्यतारितारतम्यम दृष्टम अबादिशु यदाकस्मृत्य गंधादय सर्वेव स्थूलत्वादि कारण शब्दांता न संति इन्हीं को क्या है एक ही गुणापकर्षण पृथ्वी में पांच गुण है ना और जल में एक गुण कम हो गया चार होगा अग्नि में तीन वायु में दो और आकाश में एक एक एक गुण का अपकर्षण दे जाओ गंदादियों का तब क्या होगा सूक्ष्म पृथ्वी के अपेक्षा सूक्ष्म कौन होगा जल हो जाएगा और इसी प्रकार पृथ्वी की अपेक्षा से जल विशुद्ध है पृथ्वी की अपेक्षा से जल नित्य है आदि आदि वो कैसा है व्यापक भी है आदि से भी समझना जो पहले कह चुके सूक्ष्म है महत्व ने व्यापक है विशुद्ध है नित्य है कारण रूप है पृथ्वी की अपेक्षा से जल इसी प्रकार से जल की अपेक्षा से अग्नि और सूक्ष्म है क्योंकि इसमें एक और गुण घट रहा है और ज्यादा सूक्ष्म है और ज्यादा व्यापक है और ज्यादा विशुद्ध है और ज्यादा नित्य है और ज्यादा वो कारण रूप इसके कारण क्या ये भी कार्य हो गया ना अभी जल भी कारण रूप धारण कर गया अग्नि दृष्टिया जल रूपी कारण तब अग्नि में इसी तारतम्यता को आप देखते जाए दृष्टम अबादिशो कहा अबादियों में आप यह तारतम्यता को देखें अवध आकाश ये तारतम्यता कहाँ तक जाएगी कहते जब तक आकाश में पहुंचोगे जहाँ आकाश है वहां तक जाओ ते ये जो गंदादी जो तारतम्यता सूक्ष्मता की तारतम्यता महत्व की तारतम्यता विशुद्धत्व की तारतम्यता नित्यत्व की तारतम्यता कारणत्व की जो तारतम्यता का कारणीभूत थे कौन गंधादि ये गंधादि सर्व एव स्थूलत्वादि कारण ये गंधादि वाक्य में स्थूलत्व का प्रति कारण है इन्हीं के कारण से ये आकाश आदि स्थूल भाव को प्राप्त शब्द आदियों के कारण से ही पहला स्थूल वस्तु आकाश हुआ उससे भी ज्यादा स्थूल वायु उससे भी ज्यादा अगर उल्टे क्रम से जाओ स्थूलतम हो गया प्रति उससे सूक्ष्म उससे सूक्ष्म उस लेकिन सूक्ष्म कहने पर वो स्थूल है जब तक एक भी गुण रहेगा तब तक वो स्थूल ही कहा क्योंकि गंध आदि गुण ही इन वस्तुओं में स्थूलत्व का आपादक है शब्दांता यत्र न संति ऐसे शब्द पर गंधादे गंधादय शब्दांता गंध से लेकर शब्द पर्यंत की वस्तु जिस तत्व में नहीं है किमुत सूक्ष्म वक्तव्य अरे उसकी सूक्ष्म निर्देशता के बारे में कहने की क्या जरूरत है अवश्य ही वह अत्यंत सूक्ष्म हुआ जब आकाश ही हमारे पकड़ में नहीं आ रहा है एक गुण वाला ये जो शब्द है उसी को आप पकड़ नहीं सकते उसको क्या वायु को भी नहीं पकड़ सकते वहां वायु और वस्तु दुष्कर्म वायु को जैसे पकड़ के किसी डिब्बे में बंद कर दो है कैसे कठिन काम है वो उसी उससे भी कठिन तो कौन होगा फिर जब वायु का हार है तो आकाश आकाश उसको बंद ही नहीं कर सकता वहां जैसे दुष्कर का क्यों वहां तो फिर भी आप हाँ, मशीन रखे हुए हैं गैस सिलेंडर भर देते होगी नहीं छोटी सी सोलह किलो भर जाएगी उसके अंदर ज्यादा भर तो फोड़ देगा वो भी तो भरने के साधन है फिर भी है दुष्कर इसमें कोई संशय इन आकाश का तो कोई बंद ही नहीं कर सकता किसे बंद करेगा जिसे बंद करो वो रहेगा कहा जिसमें जिस डिब्बे में आप बंद करोगे वो डिब्बा डिब्बा कहा रहेगी आकाश में फिर आकाश को कहा बंद किया आपने तो इसीलिए आकाश को तो बंद कर ही नहीं सकता सवाल ही नहीं जब आकाश का ही ये हाल है तो क्या आप आत्मा को बांध सकते हो फिर कैसे कहते हो इस हृदय भी गुफा का बांध दिया उसको ताला लगा दिया ढक दिया है वहां पर यह संभव है यह ज्ञान वश साधना के लिए कह दिया जाता है हृदय भी गुफा के अंदर उसको देखो सर्वव्यापक है तो वहां भी है लेकिन हम वहां बंद नहीं कर सकते ये कहना गलत हो जाएगा आप वहां बंद कर दिया है उसको और बाहर की आत्मा ही नहीं फिर वहां बंद हो जाएगा तो ऐसा नहीं सर्वव्यापक होने से वहां भी है वो और वहां उपलब्ध करना अनुभव करना आसान है उस स्थान विशेष में अतएव कहा जाता है हृदय गुफा में ध्यान करना अन्यथा उसको बंद ही नहीं कर इसलिए कहता है आदि की निर्देशता जो आपका में इस विषय में कहने की जरूरत है क्या क्या कहा जाए क्यों वक्तव्य तो दर्शयती श्रुद ही अशब्द मस्पुष रूपम तथा रसम नित्यम गंधवच्चयती क्या तम गीता रस मंत्र पहले भी आया हुआ है व्याकरण हो चुका है ब्रह्म अभ्ययम स्वास्थ्य मिश्र ब्रह्म अभ्य है ये बात साबित कर चुके हैं यदि शब्दादि मत तद्वेद सीधी सीधी बात है जो शब्दादि गुण वाला होगा उसका तो विनाश होगा ही इलम तो अशब्दादि अभ्यम न वेती न और ये जो है शब्दादि वाला न होने कारण से यह है वे को प्राप्त नहीं होता और तो को न जाते मृत्यवा में इसका विस्तार हो चुका है ना इसलिए कहते व्याख्यान पहले कर चुका अतएव च नित्यम यदि तद नित्यम तो न वेती अतो नित्यम जो वे को प्राप्त होता है वो अनित्य होगा और जो वे को प्राप्त हुएगा ही नहीं वो सदा नित्य ही होगा इतच नित्यम अनादि विद्यमान आदि कारण मस्जिदी तो अनादि इसलिए भी इसको नित्य कहना पड़ेगा क्योंकि अनादि है अनादि का मतलब क्या अविद्यमान है आदि आदि मने कारण आदि मने अलग नहीं आदि लाओ इसलिए अविद्यमान है आदि मने कारणम अस्ती अनादि मने अकारण यदि आदि मत तद कार्य जो आदि वाला होगा अर्थात वो कारण वाला होगा कारण वाला होने का मतलब वह जरूर कार्य होगा और जो कार्य होता है वो अनित्य जरूर होगा और एक न एक दिन वह कार्य अपने कारण में लीन होकर कारण ही प्रिय थे यथा पृथ्वी जैसे कि पृथ्वी आदि जितना भी इसको इतनी माने जो प्रलय होएगा सब स्वभाव ना कुछ तो टिकना है नहीं यहाँ इसी प्रकार से समझो सकल कार्य इधन तो सर्व कारण अकार्यम ये सकल का कारण रूप ही है ये अतएव ये अकार्य अकार्यवाद नित्यम घनत्य कारणम ये यस्मिन प्रलयते ये आकार होने से नित्य है क्योंकि इसका कोई दूसरा कारण नहीं है जिसमें इसको नाश करके आप लय कर सको घट को नाश करके मिट्टी में लय कर सकते हो यानी आत्मा को भी नाश करके किस में लय करोगे ये आत्मा का भी कोई कारण होता तो उसका नाश करके आप उसमें लीन कर देते इन आत्मा का कोई कारण ना होने से उसको नाश करने के कारण में लय करना असंभव तथा अनंतम अविद्यमान अंत कार्य मत्स्य तद अनंत करे इसका कोई कार्य तो होगा फिर सर्वकारण रूप आपने कह दिया कहते तो सापेक्ष कथन मात्र ही है वास्तव में इसका कोई कार्य भी नहीं है आत्मा से कोई कार्य उत्पन्न होता ही नहीं कार्य कार्यम अस्य तदनंतम इसलिए अंत में कार्यम अविद्यमान अंत कार्य मत्स्य अविद्यमान है अंत मैंने कार्य जिसका उसको कहते हैं अनंतम अर्थात अकार्य रूपम उसका मतलब वही कार्य नहीं है यथा कदल्यादे कार्य उत्पादन अनित्यत्म दृष्टम जैसे कदली आदि का फल देखो एक बार पैदा हो गया बात खत्म दोबारा कुछ नहीं होता कदली फल एक ही बार पेड़ देगा एक बार फल लग गया दोबारा फल लगेगा आम का पेड़ जैसे दोबारा नहीं लगेगा लेकिन एक बार आप हुआ जैसे जो दिख रहा है इसका निपटारा कर दो आप फिर दोबारा कुछ दिखेगा ही नहीं इसलिए कहते हैं दुष्टन दुष्टम न तथापि अंतोत्तम ब्राह्मणों अतोपिन उस प्रकार की अंतोत्तम यहाँ नहीं है जिस प्रकार का कदली में कार्य उत्पत्ति के बाद विनाश देख रहे हो उस प्रकार का भी अंतवत्व एक कार्य उत्पादक दृष्टि से भी यहाँ पर संभव नहीं है ब्रह्मणो तो नित्य नित्य है महत महत्व बुद्धियाख्यात परम विलक्षणम नित्य विज्ञप्ति सर्व साक्ष महत का मतलब महत्व बुद्धियाज्ञात बुद्धि तत्व से भी पर विलक्षण नित्य विज्ञप्ति स्वरूप क्यों विलक्षण है क्योंकि जो बुद्धि रूप है वो भी अनित्य विज्ञप्ति स्वरूप है यह नित्य विद्य स्वरूप होने से उससे भी वो विलक्षण है सर्वसाक्षी सर्वभूतात्मा ब्रह्म के सर्वभूतात्मा ही होने के कारण से वह ब्रह्म सभी का साक्षी है उत्तम ही एज सर्वेश भूतेषु आत्मा न प्रकाश इत्यादि से स्पष्ट कर चुके हैं ध्रुव कूटस्थ ध्रुवम मैने कूटस्थम नित्य न पृथ्वी आदि वाला आपेक्षिकम नित्यतम पृथ्वी आदि के समान आपेक्षिक नित्यत्व वाला नहीं है निरपेक्ष नित्यत्व है तदेव भूतम ब्रह्मात्मान निचाइय अवगम्य इस प्रकार के ब्रह्म रूपी आत्मा को जान करके अनुभव करके तम आत्मनम उस आत्मा को जानने वाला वह व्यक्ति मृत्यु मुखात मृत्यु गोचराद अविद्या काम कर्म लक्षणा मृत्यु से लेना मृत्यु का कारण भूता वस्तु क्या है अविद्या और अविद्या का कार्य काम और कर्म तादृश मृत्यु से प्रमुचते विविच्यते मुक्त हो जाता है प्रस्तुत विज्ञान स्तुति अर्थम श्रुति प्रस्तुत विज्ञान का स्तुति करने के लिए ही यह श्रुति कह रही है नाचिकेतमुपाख्यानम मृत्यु प्रोक्त सनादनम उक्वा श्रुवा च मेधावी लोक महीयते नाचिकेतोपाख्यानम नचिकेत द्वारा प्राप्त किए गए जो उपाख्यान है और मृत्यु से कहा गया है मृत्यु प्रोक्तम इन तीन वल्ली वाले उपाख्यान का प्रथम अध्याय के तीनों वल्यात्मक जो आपने अध्ययन किया है त्रिवल्ली रूपा ये उपाख्यान जो है वो सनातनम वह सनातन है अर्थात सनातन विज्ञान को ही वह विषय करता है और इसको उक्तवा श्रुतवा कहकर दूसरों को सुनाकर अथवा ब्राह्मणों से आचार्यों से सुनकर मेधावी जो बुद्धिमान पुरुष है वह ब्रह्म लोक महीयते ब्रह्म एवं लोक है ब्रह्म लोक वो ब्रह्म लोक नहीं लेना जो ऊपर में है कहीं नहीं क्या तो ब्रह्म एवं लोक ब्रह्म लोक समाज स्वरूपभूत आत्मा ने उसी को कह दिया ब्रह्म लोक उस आत्म स्वरूप में ही वह सदा महिमान वित है चांदवी में कहा नारद जी को पकार आता है उसकी महिमा अगर स्वे महिमनी भोग भी आता है आत्मा भूमा अतः वो अपनी स्वरूप में मस्त है जवाब ये देते हैं स्वे महिमनी उसमें महिमनी को दूसरे शब्द ने कहा ब्रह्म लोके महीयत नाचकेतम नचकेत सा प्राप्त मित नाचकेतम नचिकेता के द्वारा जब प्राप्त किया गया और मृत्यु ना प्रोक्तम मृत्यु के द्वारा कहा मृत्यु प्रोक्तम इदम आख्यानम उपाख्यान यह जो अभी अभी सुने हुए हैं आप जो पूरा तीनों वल्लित्र लक्षणम वल्लित्र के जो उपाख्यान है सनातनम चिरंतनम वैदिक नित्य वही कोने के नाते उक्ता ब्राह्मणेभ्य श्रुत्वा प्या ब्राह्मणों के लिए सुना करके अथवा आचार्यों से सुन करके यह मेधावी ब्रह्म लोको ब्रह्मलोक ब्रह्म लोक तस्मिन महीयते आत्मभूत सन उपास्यो भवती तिर उपासक अपने आत्मस्वरूप की उपासना करने के कारण से वह आत्मस्वरूप ही हो जाता है उपास्य स्वरूप होता आत्मा को ही वो प्राप्त करता है तो स्वरूप को प्राप्त हो जाता है ये तो हो गया मुक्ति आत्मक जो है सद्यो मुक्ति रूपा साक्षात अनुभूति स्वरूप फल को कथन कर दिया ब्रह्म विद्या का इन्हें सबको प्राप्त होने वाला नहीं कश्चित व्यक्ति मान तथा याद आश्चर्य वक्ता आचार्य लब्धा कह दिया है इसलिए कोई कोई ये जो फल बताया गया है ब्रह्मलोके मैयते ये तो अरबों खरबों में से कोई एकाद हो सकता है और बाकी लोगों का फिर क्या होगा इसको पढ़ के सुन के पढ़ा सुना करके लाभ क्या होगा है? से मिलना है नहीं फिर क्यों होड़ में लगे कहे नहीं कुछ और मिल जाएगा वो नहीं मिले कुछ और चीज मिलेगा चिंता मत करो लगो तो सही फर्स्ट प्राइज नहीं मिले तो क्या फर्क पड़ना है सेकेंड थर्ड कुछ ना कुछ तो मिलेगा नहीं तो कंसोलेशन प्राइज ही मिलेगा नहीं तो भाग लिया चलो सर्टिफिकेट ही मिल जाएगा इसने भाग लिया था है ना पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा वही तो सही कुछ तो लेबल लगी जाएगा मोहर लग जाएगा अपने खोपड़ी पे कि भाई ये जो है इस मार्ग में गया था तो चिन्ह ब्रह्म नष्ट तो होगा नहीं भगवान ने कहा है वो जाएगा कहीं श्रीमतान लोग के नहीं किसी न किसी घर में ऐसे जन्म लेगा आगे और उद्धार होगा इसका इसलिए कहते हैं इसको यद्यपि सद्यो मुक्ति रूप साक्षात अनुभूति रूपा फल ना भी मिले तो कोई आपत्ति नहीं किंतु यह इम परम गुह्यम श्रावे ब्रह्म संसदी प्रयत श्राद्ध काले वा कल्पद तदानंत्याय कल्पद जो कोई भी पुरुष इस परम गोपनीय परम गुह्यमाख्यानम इस परम गोपनीय ग्रंथ पवित्र इस ग्रंथ पवित्र होकर के ही श्रावित ब्रह्म संतति ब्राह्मणों की सभा में सुना देता है तो अनंत पुण्य प्राप्त कर लेगा वह अथवा प्रयत श्राद्ध काल अथवा प्रयत्न पूर्वक श्राद्ध काल में सुनता है सुनाता है श्राद्ध काल में का मतलब जब श्राद्ध भोजन करने के लिए बैठे हुए ब्राह्मणों के समक्ष केवल पाठ करके सुनाता है प्रयत का प्रक्यू कर तो प्रयात विशेषण कर रहे हैं कि भाई वो अर्थ सहित यदि पाठ कर देता है तो और भी उत्कृष्ट है अर्थ व्याख्यान करते हुए केवल लित्र का पाठ करें जब ब्राह्मण लोग भोजन कर रहे हैं श्राद्ध और पितरों का श्राद्ध माता पिता किसी का भी श्राद्ध कर रहे हैं उस समय श्राद्ध कर्म समाप्ति के बाद ब्राह्मणों को भोज खिलाया जाता है जैसे दोहित्र आदियों का अवश्य स्थापना की जाती साथ में तो ऐसे समय में इसको सुनाना अद्वैत संप्रदाय वालों के यहाँ तो नियम है यहाँ तो भंडारा में नियम होता है श्लोक सुना देते हैं ना लोग भंडारा में वहाँ ऐसा नहीं है सन्यासियों को जब भोजन खिलाते हो श्राद्ध भोजन ही माना जाता है क्योंकि साक्षात पितर आ गए हमारे घर सन्यासी का आने का मतलब साक्षात पितर आ गए क्यों वो खुद तो विरजोहम कर चुका है लेकिन खुद भी वो पितर स्वरूप को प्राप्त कर गया है आते हुए साक्षात सन्यासी को भोजन खिलाने का मतलब पितरों को भोजन खिला रहे जैसे दक्षिण में जो द्वैत संप्रदाय वालों के यहाँ नियम है जब उनके यहाँ का जो सन्यासी को आप घर भिक्षा देते हैं या उनके आसन में वो भिक्षा पा रहे होंगे तो ब्राह्मण बालक लोग खड़े होकर के सुनाते तो जरूर इसी को वेद मंत्र परिषद कुछ ना कुछ सुनाते रहेंगे उसका एक व्याख्या करेगा एक मंत्र बोलेगा दूसरा उसकी व्याख्या करते जाएगा ऐसे करके चलता है बड़ा सुनने में बड़ा अच्छा लगता है आनंद आता है और वो अपना भोजन बोलना नहीं परोसने में हाँ, जाओ दो रोटी दो नहीं पैसारा भी नहीं चलता है मना करना मना हाथ से सब कुछ ऐसे करना तो बस खाते रहेंगे लोग आते रहेंगे पुरस्ते तो जाते रहेंगे और अपना वहां खड़े हैं पांच छह पंडित अपना बोल रहे हैं ये चलता है आपने उड़पी में गया नहीं गया भोजन में उड़पी के यहाँ भोजन में चले जाओ तो पता चलता है किस तरीके से उनकी पद्धति होती साधु भोजन तो इसलिए श्राद्ध लेवा तद आनंद्याय कलवदे उसका श्राद्ध आनंद फल प्रदान करने वाला होता है तहर्ष श्रवण श्रावणात्मक क्रिया आनंद फल प्रदान करने वाला हो जाएगा दो बार जो कहा गया है तदानंत्याय अध्याय पर समाप्ति गतियों है यह कश्चित इम ग्रंथम परम प्रकृष्ट गुह्यम जो कोई पुरुष इस ग्रंथ को जो कैसा है अत्यंत प्रकृष्ट है अत्यंत कुछ गोप्य है उसको श्राव ग्रंथ तो आर्तश्च चाहे का यदि अर्थ नहीं जानता है चलो पार्टी कर दो नहीं तो अर्थतश्च यदि ग्रंथ का अर्थ तो वह करे और भी अच्छा अधिक से अधिक फलम हो जाएगा ब्राह्मण संसदी ब्रह्म संसदी ब्राह्मण की सभा में उसको ब्रह्म संसदी कहते सुचिर भूतवा सुशीभूता शुद्ध बुद्ध होकर के नान वगैरह करके पूर्ण प्रयत्न के साथ ये नहीं कि ऐसे पाठ कर दिया उचित तौर तरीके से विधि विधान के अनुसार ऐसा का तात्पर्य विधि विधान के साथ तो कर रहा है व श्रावे भुंजानाम ब्राह्मणा नाम मन भी होगा अद श्राद्ध काल में भोजन करते हुए ब्राह्मणों के समक्ष सुनाने पर तत्श्राद्ध आनंद अनंत फलाय कल्पते ताश श्राद्ध कर्म अतः पूर्वक जिसका श्रावणात्मक कर्म जो होता है वह अनंत फल प्रदान करने वाला होगा निर्वचनम अध्याय परिसमाप्त्यर्थम दीर पाठ जो किया गया है अंतिम पद का वो जो है केवल अध्याय की परिसमाप्ति का द्योतक है इस प्रकार से प्रथम अध्याय के साथ प्रथम तीनों बल्लियां जब पूरी हो गई तो आप द्वितीय अध्याय के प्रथम वल्ली आरंभ होता है कहते भगवान आपने पहले कह दिया था सभी के अंदर ये आत्मा तो है लेकिन प्रकाशित नहीं होता क्यों मैं हमारे अनुभव में नहीं आता क्यों हम इसको ग्रहण करना भी चाहते तो भी हम ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं बहुत प्रयास कर रहे हैं समझ में तो आ गया है खूब सुनते हैं नहीं पढ़ाने वाले तो खूब आते हैं अहंकार को चोट मारते रहते हैं मूर्खों ऐसे ऐसे बोल देते हैं उसके बावजूद भी हमारी अक्ल क्यों नहीं खुलती ऐसा कैसा ही वज्रमय लोहमय होता तो भाई उसको वेल्डिंग मशीन से काट कुट के फेंक देते दरवाजे को नहीं ये वज्रमय दरवाजा ठप्पा लगा पड़ा है बिल्कुल बंद है खुलता ही नहीं अध्यास रूपी वज्र ऐसा वज्र है ये वज्रमय दरवाजा है आत्मा के ऊपर जिसको उस कपाट को खोलना बहुत कठिन काम है योगी लोग तो सारे जिंदगी कुंडली जागरण करके षट चक्र भेदन द्वारा इसका कपाट का भेदन करना चाहते हैं लेकिन वो भी कई जन बिता देते हैं सफल होना बहुत कठिन होता है इधर वेदांति भी कई जन्म लगा रहा है यानी इसकी कपाट वैसी के तैसे दिख रहा है कोई भी मार्ग में आप ले लीजिए अब लाखों साधक मिल जाएंगे कपाट को फोड़ लिया वैसा जो सिद्ध एक भी मिलना मुश्किल होता है किसी भी मार्ग वाले में चले इस सच्चाई से जो स्वीकार करने वाला होगा तो यही कहेगा भाई आपने कोई पता नहीं अभी और कितना दूर है पता नहीं लगेगा कितना समय और लगेगा स्थिति ऐसा है क्यों ऐसा इस प्रश्न का जवाब के लिए अगला अध्याय के साथ आरंभ हो रहा है अगली वल्ली ये सर्वेश भूतेश गुड़ आत्मा न प्रकाश दे दृश्य बुद्धिया ये आपने पहले कह दिया कि यह आत्मा यद्यपि सकल भूतों में सकल जीवों में हृदय में ही एकदम छिपा हुआ है कहीं बाहर नहीं है हृदय के अंदर स्थान भी बता दिया स्पष्ट कहा है लेकिन वहां हम पहुंच नहीं पा रहे हैं पहुंचने का तरीका भी हमने बता दिया दृश्य वगैरह तो तीक्ष्ण बुद्धि से जो है तुम उसको अनुभव कर सकते हो अपने बुद्धि को तीक्ष्ण बनाने की कोशिश ज्यादा करते हैं तो पागल ही हो जाता है आदमी क्या करें जिस व्यक्ति ने अपना बुद्धि को ज्यादा तीक्ष्ण करने की कोशिश की वो तो गया घर का घाट का कोई का नहीं रह गया पागल हो जाता है क्या करें आप तो कहते हैं ऐसे साधन जिस साधन को अपनाने की चेष्टा करे तो खतरा ही खतरा है खुद की ठिकाना नहीं रहेगा तो पाएंगे क्या तो वो कोई करता नहीं ना समस्या तो ये है जिसको वो वर्ण करे इसने उल्टा दूसरा अर्थ भी क्या भाषिकार आत्मा जिसको वर्ण करता है जिस मोक्ष को उस मोक्ष के द्वारा ही उसकी प्राप्ति हो सकती है हम चाहे जितना भी आत्मा का वर्ण करें और आत्मा हमको नहीं चाहे तो क्या होगा वन साइडेड लव नहीं चलेगा है ना एक तरह का प्रेम स्वीकार नहीं है आप चाहे लेकिन अगली नहीं चाहेगी तो क्या करोगे काम चलता नहीं फिर छोड़ो फिर जूता उठाएगी कि वो नहीं चाहती है ना जैसे आत्मा नहीं चाह रही है तो हमारे चाहने से क्या होगा आत्मा जिसको प्राप्त करना चाहेगी वही मोक्ष के आत्मा का अनुभव हो सकता है और उसी के सामने वो आत्मा स्वस्वरूप को विवरण रघु स्वाम कहा भाषेश्वर ये भी अर्थ किया जान करके इन्हें तो सभी कहेंगे हम तो वर्ण कर ही रहे हम तो चाह रहे हैं अरे तुम्हारे चाहने से क्या होगा उधर से भी तो ग्रीन सिग्नल चाहिए हमने आगे काम बढ़ेगा इसलिए यमे वैसे में यमे को भी अर्थ किया इसने तो इसलिए कहते हैं कि भाई फिर हुआ क्या यहाँ मामला कहा पुनः प्रतिबंध अज्ञा बुद्धि ताश अग्रबुद्धि की उत्पत्ति होने में प्रतिबंध क्या है प्रतिबंध को बताओ उसको उखाड़ के फेंक दूंगा ये न तद अभाव आत्मा न दृश्यते जिसके कारण से तद अभाव आत्मा न दृश्यते अग्रबुद्धि अभाव है ना तदभाव मैंने अग्रबुद्धि अभाव ये न ये न प्रतिबंध देना जिस प्रतिबंध के द्वारा हमारी बुद्धि जो है अग्रत्व को प्राप्त नहीं हो रही थी बुद्धि की एकाग्रता एकाग्र भूमि को हम प्राप्त नहीं कर पा अनंत जन्म का पुण्य फल स्वरूप मान सकते हैं हम क्षिप्त न मूड से क्षिप्तता को प्राप्त कर गए थे कभी और क्षिप्त से विक्षिप्त दिशा तक तो आ चुके हैं तो इस विक्षिप्त से एकाग्र भूमि में